نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालह व अम्मा नवालह व तम बुरहान व आजम शाह की हमद सना और हजूर शाफी यमन नशूर मोहसिन इंसानियत उसवाए आदमियत कायदुलम्बिया महबूब कबरिया अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालही वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार गहर बार में हदिया दरुदसलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मोहतशम सामिन आज हमारी गुफ्तगु का मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात ये मौजू हमने इससे कबल तीन किस्तों में बयान किया है पहली दो किस्तें किताबी शक्ल में शराबी की गई आज ये चौथी किस्त है कुरान मजीद बुरहान रशीद का फाहम उस पर अमल करने के लिए जरूरी है इसके फाहम के सिलसिले में फहम के हसूल की कोशिश भी होनी चाहिए और सेहतमंद फाहम की शनाख्त भी होनी चाहिए कुरान मजीद बुरहान रशीद की तबलील उसकी तालीमत को आम करना ये इस वक्त सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है बंदा नाचीज हाल के कायनात जला जलालहू का बेहद मशकूर है कि हमने अपने कुरान और के प्रोग्रामों के तसलसल को बढ़ाते हुए यकम अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक तालीम कुरान सुन्नत कोर्स का एहतमाम किया और पत्तों की में रोजाना नमाज ईशा के बाद नौ बजे से लेकर सवा दस बजे तक हमारी क्लास होती रही अल्लाह के फजल से हजारों लोगों ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की इस दावत को सुना गुजशत रात हमारा आखिरी सबक था और पत्तों की कमेटी ग्राउंड में बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसमें हमने दसवां सबक मुकम्मल किया तो ये कुरान सुन्नत की दावत का एक तोहफा है जिसको हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू इस अच्छी तमन्ना को बराबर फरमाए और कुरान मजीद बुरान रशीद का सोज़ हमें घर घर बांटने की तोफीक अता फरमाए मफहूम कुरान बदलने की वारदात इसका तारफ तो यकीनन उन हजरात को होगा जो इससे कबल की तीन किस्तें सुन चुके हैं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद का लफ्जी तर्जमा गलत करने की बजाय तर्जमा सही करते हुए कुरान मजीद से अपना गलत मतलब निकालने की कोशिश करना ये मफहूम कुरान पर वारदात है इसकी पहले दर्जनों मिसालें हम पहली किस्तों में बयान कर चुके हैं आज सिर्फ एक आयत के बारे में गुफ्तगु होगी जो कि बड़े एहतमाम से पढ़ी जाती है बयान की जाती है और उससे अपना मतलब साबित किया जाता है हम कुरान मजीद की उसलूब को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि खाल के कायनात जला जलालू की हिकमत का इसमें तकाजा क्या है वो क्या सलाम जाहिर फरमाना चाहता है और किस उसलूब में इस आयत को समझना चाहिए और किस उसलूब में इस आयत को बयान करना चाहिए कुल नमा आना बाशारुम मिसलुकुम यू हा ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये ऐलान फरमा दें कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं मुझ पर वह की जाती है फरमान ये फरमान दो जगह पे मौजूद है सूरह कहफ की आयत नंबर 110 और सूरह हामीम सजदा हमारा कोई आयत नंबर 6 मतलब क्या है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वारिस नहीं बनते ये ऐलान करने का हुक्म दिया भी नहीं होता जिस तुम ये फरमाओ कि मैं तुम्हारा मनसब नहीं बशर हूं लफ्ज बशर पर जो तहकीक है और मसला नूरानियत की जो वजाहत है ये इससे कबल हमारे रमदान मुबारक का जो फहम दीन कोर्स होता है उसमें हम इस पर अच्छी खासी गुफ्तु कर चुके हैं आज की गुफ्तु सिर्फ और सिर्फ इस आयत की उसलूब के लिहाज से है जो मुयन करेगी कि बशर का माना क्या है और बशर से यहां पर मुराद क्या है ये आयत कुछ लोगों ने इसलिए पढ़ने का मामूल बनाया कि ये साबित किया जाए कि रसूल अल्लाह सल्लाह वसलम महज एक सती इंसान थे और हम में और उनमें कोई फर्क नहीं और वो किसी तरह की नूरानियत से मुतसिफ नहीं और उनकी हकीकत नूर नहीं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का इनकार करने के लिए इस आयत को पढ़ा जाता है इसका तर्जमा किया जाता है आयत भी सही है तर्जमा भी सही है मगर इससे ये मतलब निकालना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हम में कोई फर्क नहीं और वो नूर नहीं ये मतलब और ये मफहूम अखज करना ये अल्लाह के कुरान के मफहूम पर एक वारदात है खाल के कायनात जल्ल जलाल की इन आयात का हर गिज ये तकाजा नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है और हर गिज इन आयात का ये तकाजा नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हम में कोई फर्क नहीं है लफ्ज भी ठीक है और उनका तर्जमा भी ठीक है मगर जो मतलब लोग इससे निकालना चाहते हैं उस मतलब से ना कुरान राजी है ना साहिब कुरान राजी हैं और ना ही खाल की कायनात राजी है उस लूब को देखकर हम समझेंगे कि मतलब क्या है जहां तक लुगत की किताबें मुख्ता अल एन हो या इबन मंजूर की लिसानुल अरब हो उनकी में तो वाज तौर पर वैसे ही वजाहत मौजूद है कि बशर अल बशर हो अल इंसान कि बशर का माना इंसान है और ये लफज मुजक्कर पर भी बोला जाता है मुन्नस पर भी बोला जाता है और अल बशरु जाहिरुल जिल्द बशर उसे कहा जाता है जो जाहिरुल जिल्द हो जिसकी जिल्द पर ना तो पर हो ना बाल हो जाहिर जिल्द हो यानी ऐसे बाल जो ऊन की तरह के होते हैं उसको बशर कहा जाता है बशर की तारीफ लोगत की किसी किताब में ये नहीं है कि बशर वो होता है जो मट्टी का बना हुआ हो या बशर वो होता है जिसकी हकीकत खाक हो बशर वो होता है जिसकी हकीकत नूर ना हो लुगत की किसी किताब में भी ऐसी कोई तारीफ मौजूद नहीं है और कुरान मजीद का उसलूब भी इस बात की नफी कर रहा है कि बशर के मुन कर दिया जाए कि बशर सिर्फ मट्टी का ही होता है बशर की तारीफ का तकाजा जहरुल जिल्द होना है का उसकी हकीकत नूर हो का उसकी हकीकत खाक हो हम जैसे खाकी पुतले जहरुल जिल्द होने के साथ साथ हमारी हकीकत ये मट्टी है और रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाहिरुल जिल्द है मगर उनकी हकीकत अल्लाह का मखलूक नूर है खालिक नूर और है और नूर मखलूक और है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह तबारक व ताला के नूर से यूं मुनफरद है ये अल्लाह ताला की कोई जुज नहीं उसका कोई हिस्सा नहीं क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का जो नूर है उस पर जो नूर का इतलाक होता है वो नूर मखलूक नहीं है वो नूर खालिक है और रसूल अक्रम सल्लल्लाहु को जो नूर कहा जाता है तो ये वो नूर है जो पैदा किया गया है लिहाजा दो सौ मील का फसला फर्क है जमीन व आसमान से ज्यादा इन दो नूरानियतों के दरमियान नूर होने के बावजूद भी किसी किस्म की अल्लाह की जात के साथ ना कुछ शराकत लाजम आएगी ना कोई मुमासलत लाजम आएगी मोहतशम सामी जहां तक पहली आयत है जो सूर्य कहफ में है उसका मतलब और इन नमा आना बाशारूम मिसलुकुम इससे पहली आयत देखे तो फिर मतलब समझ आएगा जो आज से सदियों कबल मुहदसिन और मुफसरी ने लिखा ये बर सगीर में जब कुछ लोगों ने इस इख्तलाफ को जाहिर किया और नूर और बशर के मसले को छेड़ा और उम्मत में जो चीज तसलसल से आ रही थी उस पर फिर कुछ लोगों ने एतराज किया हम इस वक्त की बात नहीं करते हम तीसरी सदी में चले जाते हैं चौथी सदी में चले जाते हैं पांचवीं सदी में चले जाते हैं सिहाबा की अकायद देख लेते हैं और पीछे जो मुफसरीन है उनकी तफसीरें पढ़ लेते हैं उनमें से हर एक की सोच के मुताबिक वही सोच है जो आज सुन्नी अकीदा में मौजूद है और पिछली दस ग्यारह सदियों में कोई ऐसी जड़ नहीं मिलती जिसका ताल्लुक उस फिक्र के साथ हो जो आज रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की नूरानियत की नफी करती है मोटम सामी इस आयत से पहले खाल के कायनात का ये फरमान है कुल नौ का नल बहर मिदादल निकालिमा की रबी लनाफिद अल कुल ए मेरे महबूब ये फरमा दीजिए कि अल्लाह के कलिमात बहुत ज्यादा है लोकान अलबहर निदादन अगर सारे समुंदर स्याही बन जाए अल्लाह के कलिमात को लिखने के लिए लनाफुद अलबहर कब अन तन पद कलिमात और रबी पर मेरे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे और सारे समुद्रों की स्याही खत्म हो जाएगी ये इस आयत का माकबल है मेरे महबूब आप फरमा दें इन लोगों से कि अगर मेरे रब के कलेमात इतने ज्यादा है इतने ज्यादा है कि सारे समुंदर स्याही बन जाए तो फिर भी मेरे रब के कलेमात कभी खत्म नहीं होंगे इस आयत का शान रजूल क्या है कुर्तबी में है कि जिस वक्त रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ने ये आयत पड़ी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला अहले तौरात को आपने ये फरमाया यहूदियों से ये कहा कि तुम्हें बहुत थोड़ा इलम दिया गया वबा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला तुम्हें तो थोड़ा सा इलम दिया गया तो इस पर वो सीख पा हुए कहने लगे हमें तौरात आती है और हमें बहुत से उलूम आते हैं और आप हमारे इल्म को थोड़ा सा करार दे रहे हैं अगर हमारा इल्म थोड़ा है तो इसके सिवा क्या चीज है जिसको आप इल्म कह रहे हैं तो खाल की कायनात ने ये आयत नाजिल फरमाई मेरे महबूब इनको समझाओ जो तौरात की कुछ सतरे पढ़ के समझते हैं कि अब इल्म सारा खत्म हो गया और हमने इल्म के समुंदर पी लिए हैं इनसे ये फरमा दो कुल लो कानल बहरो निदाद कलिमात रब्बी मेरे रब के कलिमात इतने ज्यादा है कि सारे समुंदर स्याही बन जाए फिर भी ये खत्म हो जाएंगे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे ये अल्लाह के कलिमात को लिखने के लिए लनाफिद अल बहर कब कबल तन तनफद कलिमात और अब रब्बी फरमा मेरे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे और सारे समुद्रों की स्याही खत्म हो जाएगी ये इस आयत का माकबल है मेरे महबूब आप फरमा दें इन लोगों से कि अगर मेरे रब के कलिमात इतने ज्यादा हैं इतने ज्यादा हैं कि सारे समुंदर स्याही बन जाए तो फिर भी मेरे रब के कलेमात कभी खत्म नहीं होंगे इस आयत का शान नजूल क्या है कुर्तबी में है कि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी वमा ऊतीत मिनल इल्म इल्ला कलीला अहले तौरात को आपने ये फरमाया यहूदियों से ये कहा कि तुम्हें बहुत थोड़ा इलम दिया गया वमा तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला तुम्हें तो थोड़ा सा इल्म दिया गया तो इस पर वो सीख पा हुए कहने लगे हमें तौरात आती है और हमें बहुत से उलूम आते हैं और आप हमारे इल्म को थोड़ा सा करार दे रहे हैं अगर हमारा इल्म थोड़ा है तो इसके सिवा क्या चीज है जिसको आप इल्म कह रहे हैं तो खाल के कायनात ने ये आयत नाजिल फरमाई मेरे महबूब इनको समझाओ जो तौरात की कुछ सतरे पढ़ के समझते हैं कि अब इल्म सारा खत्म हो गया और हमने इल्म के समुंदर पी लिए हैं इनसे ये फरमा दो कुल लो कानल बहरो निदाद कलिमात रब्बी मेरे रब के कलिमात इतने ज्यादा है कि सारे समुंदर स्याही बन जाए फिर भी ये खत्म हो जाएंगे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे ये पस मंजर था इस बशर वाली आयत से माकबल जो आयत है उसके नजूल का कि जिस वक्त तौरात वालों को यहूदियों को यह कहा गया अल्लाह के कुरान ने यह कहा वमा ऊती तुम मिलल इल्म इल्ला कलीला तो वो सीख पा हुए और उन्होंने कहा हमारा इल्म तो बहुत ज्यादा है इसके सिवा इल्म और क्या हो सकता है तो खाल के कायनात ने फरमाया तुम्हारा तो एक कतरा भी नहीं उस समुंदर के मुकाबले में लौकान अलफहर मिदाद अलिमात रब्बी लनाफिद अलफहर कबल अलतलफल कालिमात रब्बी बोलो जितना मिसल ही मदादा फरमाया अगर जितने समुंदर है इन जितने और समुंदर भी ले आओ फिर वो भी खत्म हो जाएंगे मेरे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे ये इतने उलूम का इजहार जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबा से किया तो अब ये एक तस्वुर उजागर हो रहा था कि वो इतने सारे उलूम जो है जिनके मुकाबले में तौरात वालों को इल्म कलील की वजाहत कर दी गई कि तुम्हारा इल्म कलील है वो इतने सारे उलूम इतने वसी उलूम वो सारे के सारे खान के कायलात जल्ला जलालहू ने नबी अकरम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लल्लाहु अलैहि को दिए हैं या नहीं दिए आप उनको जाति तौर पर जानते हैं या नहीं जानते आपने जब उनका हवाला दिया है तो फिर उनको जानते भी होंगे आपने जब उनका तस्करा किया है तो फिर उनके बारे में पूरी तरह पता भी होगा रसूल अक्रम सल्लल्लाहु ने इसके बाद आजजी का इजहार करते हुए फरमा दिया अल्लाह तला ने फरमाया इनसे कह दो इन न नमा आना बाशारू मिसलो तुम मैं तुम्हारे मिसल बशर हूं माना क्या होगा फरमाल मा आलो आलमू इल्ला हुआ युवा मोनी मैं सिर्फ वही जानता हूं जो मेरा रब मुझे अता फरमाता है याद रखना उस लूप को पेश नजर रखते हुए अब यहां पर पहले कोई ऐसा दावा ही नहीं है कि जिसमें लोगों ने कहा हो तुम तो खुदा के नूर हो और आपने फरमा नहीं नहीं मैं तो नूर नहीं हूं मैं तो बशर हूं ऐसे माकबल में कोई ऐसी बात ही नहीं चल रही कबल में कोई ऐसा दावा ही नहीं हो रहा और कबल के अंदर कोई ऐसा शान नजूल नहीं है कबल में कोई ऐसा शान भरूद नहीं है बात उनके इल्म की हो रही थी अल्लाह ने अपने कलिमात की कसरत का इजहार कर दिया और चूंकि वो जिस जुबान से इजहार हुआ है उस पर फिर उस इल्म के मानने और जानने का जो एक निशान उभर रहा था खाल के कायनात ने फरमा मेरे महबूब अब आजजी का इजहार करते हुए उनको फरमा दो कि मैं उनको जानता तो हूं मगर खुद नहीं अल्लाह के बताने से जानता हूं क्योंकि मैं खालिक नहीं हूं मैं मखलूक हूं मैं बशर हूं मैं सिर्फ वही जानता हूं जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है ये तफसीर जो मैं कर रहा हूं ये इमाम कुबरी ने की तीन सौ बीस हिजरी का जो जमाना उनका है कितना आज से पहले जब इस इख्तिलाफ की कोई जड़ मौजूद नहीं थी इमाम कुर्तबी ने किया यही तर्जमा सारे मुतकदमी मुफसरीन ने किया कि जो सरकार ऐलान कर रहे हैं कि मैं बशर हूं इसका माना क्या है कि ला आलमू इल्ला मायुल्ला मैं सिर्फ वही जानता हूं जो खुदा मुझे देता है दूसरे मुफसर बोलते हैं ला इल्म ली इल्ला मा अल्लाह मेरा और कोई इल्म नहीं है मुझे सिर्फ वही आता है जो मेरा खुदा मुझे देता है और वो कितना है कितना देता है किस अंदाज में है उसका कोई दायरा है उसका कोई अंदाजा है उसकी कुछ पैमाना है परमाफाओहा इला ही माओहा अल्लाह ने इतना दे दिया है इतना दे दिया है कि उसका कोई पैमाना ही नहीं है उसका कोई मैार ही नहीं है कि जिससे बयान किया जा सके फरमा खाल के कायनात की अता के बगैर लोगों मैं कुछ नहीं जानता मैं बशर हूं खुद नहीं जान सकता मगर मेरा खुदा मुझे इल्म के खजाने अता फरमाने वाला है अब बशर का माना तीसरी सदी का मुहदस मुफसर चौथी सदी का मुहदस बल्कि सिहाबा के अकायद तक बशर में किसी ने आज तक ये उम्मत की ग्यारह सदियां पूरे चैलेंज के तौर पर पेश कर रहा हूं कोई मुफसर ऐसा नहीं कोई मुहदस ऐसा नहीं जिसने इस मकाम पर यह कहा हो इन नमा आना बाशरुम के इसकी तफसीर ये की हो कि खुलक तो मिन तुराबिन लोगों में मट्टी से पैदा किया गया हूं इन से हूं मेरी हकीकत नूर नहीं है मुझे नूर से पैदा नहीं किया गया पूरी उम्मत की तारीख छान डालो एक मुफस्सिर का भी ये कौल नहीं मिलेगा क्योंकि आयत इनकार कर रही है माकबल का उसूल इनकार कर रहा है हर के कायनात का कुरान जिस बास को बढ़ा रहा है वो बात इल्म के लिहाज से है अल्लाह के कलिमात की कसरत के लिहाज से है लिहाजा सरकार अपनी बशरीत का हवाला देकर यह बताना चाहते हैं लोगों जो इस जुबान से निकलता है खुद नहीं अल्लाह के देने से निकलता है क्योंकि जो खुद बोले जो खुद रखे वो इला होता है वो खालिक होता है मैं मखलूक हूं मैं बशर हूं मैं खुद नहीं जानता अल्लाह तबारक वाली के देने से जानता हूं उसकी अदा से जानता हूं और उसकी तालीम से जानता हूं तो अब रसूल अक्रम सल्लल्लाहु ने जिस बात का इजहार किया ये वो उसलूर है कुरान मजीद का जिससे सिर्फ ये वजह मकसूद है कि लोगों में जो बयान करता हूं तुम हैरान होते हो कहीं अर्श की बात है कहीं कुर्सी की बात है कहीं जन्नत का तस्करा है कहीं दोजख की खबर है ये सारी गैब की बातें जो मैं बताता हूं मैं खुद नहीं मुझे खालिक ना समझ लेना मुझे इला ना मान लेना मैं इलाह का बंदा हूं और वो मुझे अता फरमाता है कितनी अजमत है कितनी फजीलत है और उस रूप किस बात को मुयन कर रहा है और जो मफहूम आज का ये शख्स निकालना चाहता है खुदा की कसम उस लूब कुरान उसका एक फीसद भी उसकी इजाजत नहीं देता पुराने मजीद का उस उसलूब मुआयन कर रहा है कि जो बहस कबल में छिड़ी हुई थी उसके जवाब में जब फरमाया कि मैं बशर हूं मतलब ये बना कि मैं खालिक नहीं हूं कि खुद जानू मैं इला नहीं हूं कि खुद ये इल्म रखू मैं तो उसका बंदा हूं और वो इल्म देता है तो मैं बोलता हूं इस वास्ते जमकशरी ने तो कशाफ में लिखा पांचवीं सदी हिजरी की जो तफसीर है उसमें यहां तक लिख दिया ये आयत जिसको कुछ लोगों ने आज भी वजीफा बनाया कि सरकार की नूरानियत का इनकार किया जाए इस आयत के बारे में तो पाक महबूब सलाम का ये फरमान है मन करा हाजिल आयता इन द मज्जे ही जो शख्स रोजाना सोते हुए इस आयत की तिलावत कर ले कान लहू नूर उसे अल्लाह नूर अता फरमाएगा जिसको बशरीत को बयान करने के अंदाज में आज का कोई गुमराह इंसान सरकार की नूरानियत की नफी के लिए बोल रहा है इस आयत का तो इतना बड़ा फैज है इतना बड़ा फैज है कि सरकार ये साथ फरमाते हैं जो इसको रोजाना पड़ेगा अल्लाह उसे भी नूर अता फरमा देगा अब पढ़ने वाले की नीयत का नीयत पर मदार है तो वो इसे सरकार की ना समझ के पढ़ता है या बुग्ज अदावत से पढ़ता है ये तो अल्लाह का कुरान है और ये भी सरकार की मनकबत है सरकार की नाक है सरकार की फजीलत है कितनी बड़ी फजीलत है पर मैं मेरा उम्मती जो ये शख्स ये रात को पढ़ के सो जाएगा कान लहू नूर उसके लिए नूर होगा कैसा फरमाइयतल्ला लो उससे रोशन हो जाएगा मिनहू इलल बैतुल मामूर इस पढ़ने वाले से लेकर बैतुल मामूर तक जितनी फिजा है सारी नूर से रोशन हो जाएगी ऐसे बशरियत तो खाकियों को भी नूर दे रही है हमारा जो पढ़ेगा उसको इतना नूर मिलेगा बैतुल मामूर तक सारी फिजा रोशन हो जाएगी और ये किस रोशनी होगी पर मैं हश बहू अलमलाइका तो युसलू नाली है वह यस्तल फ्यू न लहू ये उसके चारपाई से लेकर बैतुल मामूर तक जो सारी फिजा रोशन हो गई है ये कैसी रोशनी है फरमाया ये फरिश्तों के चेहरों की रोशनी है फरिश्ते हैं उनकी रोशनी है उनके चेहरे चमकते हैं वो क्यों आए हैं क्या करते हैं फरमाया जो ये ऐद पढ़ के सो जाता है जब तक बेदार नहीं होता वो सारे फरिश्ते इसकी मगफरत के लिए दुआएं मांगते रहते हैं कैसा कसीदा है और कैसी इसमें अजमत है फरमाया सोने वाले को नूर मिलता है उसके लिए नूर है बैतुल मामूर तक फिजा मुनवर हो जाती है और फरिश्ते आ जाते हैं ये सो रहा है अपनी नींद पूरी कर रहा है मगर उसको खाल के कायरा जल्ल हु ने इस नूर वाली आयत के सदके में ऐसी नूरानियत दी है कि वो सो रहा है मगर अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं कर रहे हैं ये मैंने सिर्फ इख्तिसास से मफहूम कुरान पर बार बात करने वालों के मुकाबले में आपको आसान से तरीके में ये बात सामने रखी है और पूरे शर सदर से कहता हूं कि मुझे पूरा यकीन है क्या मत तक इस उसलूब का कोई जवाब नहीं दे सकेगा क्योंकि इससे कबल वाली आयत को कोई उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता जब वो पड़ी जाएगी तो फिर ये पढ़ी जाएगी और जो उसका उसलूब है उसको मान के शायद का मतलब बयान किया जा सकता है और जो भी उस उसलूब को मान के इसका मतलब बयान करेगा तो यहां से सरकार की नुरानियत की नफी नहीं बल्कि अजमतों का सबूत हो जाएगा दूसरी आयत जो हामी मुसजदा में है कौन इन नमा अनाबाशा मिसलुकुम यू हाई इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहू वाहिद फरमा दो महदूम इनसे कि मैं तो तुम्हारी मिसल बशर हूं अब मिसलियत का पहली आयत में पता क्या चला फरमाया जैसे तुम्हें अपने आप कुछ पता नहीं चलता ऐसे मुझे भी अपने आप को कुछ पता नहीं चलता ये जो मैं फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें देता हूं ये मेरे खुदा की मुझ पे आता है अब इसमें फरमा तुम्हारी मिसल बशर हूं मुझ पर वही होती है कि खुदा एक है आज इस आयत का माकबल पड़े वकालू कुलू बोला फी अकिन्नति मिम्मा तदड़ूना इलेही वफी आजानिना वक्र वमिन बैनिना व बैन का हिजाब फामल इन्ना आमिलून उन लोगों ने कहा किन लोगों ने मुशरकों ने जब सरकार ने उनसे कहा कलमा पढ़ो खुदा को एक मान लो और मुझे उसका रसूल मानो मुझ पर कुरान नाजिल होता है तो उन्होंने ये वाजे अल्फाज सुनते हुए जो कि फसाद से भरे हुए हैं बनाने से लबरेज है और बिल्कुल आम फहम है और उनकी अरबी जुबान में है जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या कहा उलूब उनाफी अकिन्ना हमारे दिलों पर तो पर्दे हैं पता ही नहीं चलता तुम बोलते क्या हो कुलूब उनाफी अकिन्ना मिम्मा तदरूनना जो आप हमें हमें तो पता ही नहीं चलता आप मेरा और हमारे कानों के अंदर जो है वो डांट दिए हुए हैं और कोई चीज अंदर दाखिल नहीं होती आप ऐसे सर कपाते रहते हैं आपकी तबलीग हमारे दिलों तक नहीं पहुंचती दिलों के पर्दे हैं और कानों में डांट दिए हुए हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान कई हिजाब है यानी यूं वो इजहार कर रहे थे जैसे अब भैंस के सामने कोई तबलीग की जाए तो इंसान उर्दू जुबान में उसको समझा रहा तो वो नहीं समझेगी किसी गधे को आप समझाएं तो वो नहीं समझेगा क्यों उसकी जुबान और है आपकी जुबान और है तो ये मुशरकिन इस हद तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला शिकनी करना चाहते थे कि आपकी तबलीग का तो हम पे कोई असर नहीं होता हमें पता ही नहीं चलता कि आप कहते क्या है बोलते क्या है लफ्ज क्या है इनका माना क्या है जब उन्होंने ये कहा तो खाल के कायनात ने फरमाई ने कहो इन नमा आना मिसलो कुम बेवकूफ हो मैं भी तो इंसान ही बोल रहा हूं तुम्हें इंसान की समझ भी नहीं आती तुम्हें बोलते इंसान का भी पता नहीं चलता मैं इंसानों इंसान ही तुमसे बोल रहा हूं तुम कहते हो हमारे दिलों पे पर्दे हैं और हमारे कानों में बात जाती नहीं है और हमें तर्जमे का पता नहीं चलता और हमें बात का मफहूम नजर नहीं आता पर मैं कितनी बेवकूफी की बात करते हो मैं कोई फरिश्ता तो नहीं बोल रहा मैं भी इंसान बोल रहा हूं अगर फरिश्ता होता तो मियाज ला युम किनुकुम तलक्की मिल हो कि जिस फरिश्ते से हासिल करना तुम्हारे लिए मुहाल हो मैं यू नहीं हूं मैं तो इंसान तुम्हारे सामने बोल रहा हूं फरिश्ते से हासिल करने की, की सलाहियत तुम में नहीं है वरना रसूलों की जरूरत ना पड़ती फरिश्ते ही आते और बता देते पर मैं वो तुम्हारे अंदर इस्तेदाद नहीं है वो तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक बताला ने काबिलियत नहीं रखी फरमा वो सारा हमारे जिम्मे है के खा बुखारी शरीफ में है कि वो जब वही नाजुल होती थी तो सहाबा कहते यूं है जैसे किसी पत्थर पे कोई जंजीर रगड़ी जा रही हो तो आवाज पैदा होती है ऐसी आवाज पैदा होती थी कभी वो शहद की मक्खियों की जो बिन बिनबिनाहट होती है ऐसी आवाज आती थी अगर इंसान को खुश समझ ना पड़ता कि इस बिन बिनबिनाहट का मतलब क्या है अलिफ लामीम उसको कभी भी समझ ना आता जालिकल किताब कभी भी समझ ना आता ये सरकार की सलाहियत का कमाल है वो जो बिन बिनाहट थी उसको कलाम बनाया है है उसको कलाम समझा है और आगे समझा दिया है पर मैं अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तो कोई फरिश्ता नहीं हूं मैंने फरिश्ते से वसूल कर लिया है तुम मैं तकसीम कर रहा हूं इन नमा अना बाशारुन लिहाजा ये क्यों कहते हो कि हमें समझ नहीं आती और हमारे कानों में पर्दे हैं और हम पर्दे में हैं बैनना व बैना का हिजाब आप और हम में कई पर्दे हैं जैसे अब देखें इस वक्त जिन भी इस फिजा में है रिश्ते भी मौजूद हैं मगर ना हमें जिन नजर आते हैं ना फरिश्ते नजर आते हैं क्योंकि दरमियान में हिजाब है पर्दे हैं और पर्दे भी हमसे पोशीदा है तो वो ये डर कर रहे थे कि तबलीग का हम पे असर क्या होगा आप कोई और मखलूक हम कोई और मखलूक गोया कि कोई आपस में लेने देने की मुनासबत ही नहीं है हम कैसे फैज हासिल करें और आप कैसे फैज तकसीम करें कोई आपस में मुनासबत ही नहीं है पर फरमाया मेरे खुदा ने तो मुझे हरफ मुशद्दत बनाया है पहले के साथ भी पढ़ा जाता है सिलसिले के साथ भी पढ़ा जाता है इधर मखलूक में शामिल उधर अल्लाह से वासिल खवास इस बरजखे कुबरा में है हरफे मुशद्दत का पर मैं उधर से अल्लाह से मिलता हूँ वहां तक पहुंचता हूँ जहां जिबरील भी नहीं जा सकते और इधर बैठता हूँ तो तुम पे राशातारी नहीं होता हंसता मुस्कराता तुमको सब कुछ हटा कर देता हो ये मातबल है अब कहां इस बात का तस्करा है कि कुछ कौम पैदा हो गई हो मदीना शरीफ में जिन्होंने ये कहा हो कि हमारे पैगंबर तो खुदा का नूर है और आगे से ये वह आ गई हो कि नहीं नहीं फरमाओ इन मैं आना बाशर हूं ये नूर की बात ना करो मैं तो बशर हूं कहां यह शान नजूल है सूरज मगरब से तुल हो सकता है मगर खुदा की कसम इस बात का एक लफ्ज भी साबित नहीं किया जा सकता जो ऐसा शान नजूल हो जब कबल में मुराद ये है मुशरकों का एक मुगालता था और उनकी एक बेवकूफी थी और वो सरकार की हौसला शिकनी करना चाहते थे ताकि ये तबलीग से बाज आ जाए कि इन्हें पता ही कोई नहीं चलता तो मैं तबलीग क्यों करता हूं सरकार से जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने हौसला अफजाई फरमाई फरमाया लोगों से कह दो कि क्यों दीवाने बनते हो और जानबूझ के बेवकूफ बन रहे हो मैं तो शक्ल इंसान में तुम्हारे सामने खड़ा हूं इन नमा आना बाशारुम को मैं भी जुबान से बोलता हूं कोई तुम्हें मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई नहीं देती मैं भी तुम्हारे सामने शक्ल इंसान में मौजूद हूं कोई दो तो जंजीर चलती हुई की आवाज से तुम्हें कलिमात नहीं निकालने पड़ते लिहाजा कोई बहाना तुम्हारा मंजूर नहीं होगा इस वास्ते कि मेरे खुदा ने अपने नूर को शक्ल इंसान में तुम्हारे पास बया फरमा दिया है दूसरी बात यह थी इन नमा आना बाशारुन के अंदर इस मकाम पर है फरमाया जो कुछ मैं दावत देता हूं वो दावत ऐसी नहीं है जो उकूल से बालातर हो और उसकी समझ ना आए फरमाया जो मैं बोलता हूं उस पर अकली दलाल भी मौजूद है मैं जो कह रहा हूं कि खुदा एक है और वो मौजूद है वो इस जमीन व आसमान का खालिक है ये जो भी थोड़ी सी सोच रखता है और जिसकी अकल की बैटरी कुछ भी चार्ज है वो थोड़ा सा गौर करे तो उसकी अकल यह नतीजा देगी कि ये जमीन व आसमां खुद नहीं चल रहा ये बाहर का आना खजा का आना मौसम गर्मा का आना सर्दी का चले जाना और वक्त मुआजन पर सूरज का तलु हो जाना गुरूब हो जाना सतारों की अंजमन का मुस्करा जाना और चांद जैसे खूबसूरत गेंद का आसमां के वसी ग्राउंड के अंदर एक नजमो सब के साथ चलते रहना ये सारी कायनात का निजाम जो है इंसानी अकल भी उसको मजबूर करती है कि उस खुदा को मान लिया जाए उसका एहतियात कर लिया जाए फरमाया मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो तुम्हारी अकल से वाला तर हो मैं चूंकि इंसान के लिबास में मौजूद हूं वो बात करता हूं जो इंसान की अकल के मुताबिक है मैं जो तबलीग कर रहा हूं ये ऐसी नहीं है कि जिसको समझने के लिए किसी मलक की जरूरत हो फरिश्ता की जरूरत हो मलकूती ताकत की जरूरत हो पर मैं नहीं आई इंसान तेरी अकल काफी है समझ सकती है मैं जो बास बादल मौत का तस्करा कर रहा हूं ये सारी बातें जो तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं ये मेरी दावत अकूल से तर नहीं है अकूल के मुताबिक है क्योंकि अकल से निकल रही है अकल की तरफ जा रही है लिहाजा फरमा कौल इन नमा आना बाशारुम मिसलुकुम यू हाइलैया ए लोगो मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं मैं भी अकल रखता हूं और अकल से यह तुमको पैगाम दे रहा हूं और जो दावत दे रहा हूं यह तुम्हारे निशाद के मुताबिक है क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं दे रहा एक इंसान तुम्हें दे रहा है उसलूब ने किस अंदाज में कुरान मजीद बुरहान रशीद की इस आयत को वाजे कर दिया फिक्री वारदात करते हैं उनके पास सौ में से एक फीसद भी ऐसा कोई शान नजूल मौजूद नहीं है ऐसा कोई उसलूब मौजूद नहीं है ऐसी कोई तर्ज मौजूद नहीं है कुरान मजीद की जब भी ये आयत समझी जाएगी तो कालू कुलूबूना भी अकिन्ना को पढ़ना पड़ेगा कि क्या जरूरत क्या बात थी मौका क्या था आप देखते हैं कि हर ऐसी बात का कोई ना कोई शान बरूद होता है अब एक उस्ताद पढ़ाता है और उससे तालब इलम वहां पर स्कूल में बिला तमसील अपने घर के खर्चे मांगे तो वो कहे मैं तो सिर्फ उस्ताद हूं अब उसकी ये बात अगर मुनकते कर ली जाए और कहीं दीगर जगह बयान की जाए कि वो कहता मैं सिर्फ उस्ताद हूं मैं किसी का बाप नहीं मैं किसी का बेटा नहीं और मैं किसी की मखलूक नहीं मैं किसी का मरजूक नहीं मैं तो सिर्फ उस्ताद हूं तो अब ये बात कितनी गलत बन जाएगी सिर्फ उस्ताद में जो उस वक्त वो नफी कर रहा था तो उस मन, बस मंजर को देखना पड़ेगा कि किसके लिहाज से कह रहा था कि मैं सिर्फ उस्ताद हूं ना ये कि पूरी सारी जिहाद के लिहाज से वो ऐलान कर रहा था कि मैं और कुछ भी नहीं हूं मैं ना किसी का बेटा हूं ना किसी का बाप हूं मैं तो सिर्फ उस्ताद हूं ऐसा हरगिज नहीं है जब उसलूब आएगा तो फिर मतलब का पता चलेगा जो सरकार फरमारी नमा अना बशर मैं तो माज बशर हूं तो पता कराना पड़ेगा कि किसके मुकाबले में कहा है वरना वो तो रसूल भी है खत्मुल मुरसलीम भी है इमामुल मुरसलीम भी है वो शम्स भी है वो दुआ भी है यासीन भी है तोहा भी है साहेब कुरान भी है साहेब रमजान भी है बशीर भी है नसीर भी है सिराज मुनीर भी है वो तो कौन सी बात से मुतसिफ है कैसे ये हो सकता था कि मैं सिर्फ बशर हूं और कुछ भी नहीं लिहाजा ये जो हसर किया इन नमाना बशर कि मैं सिर्फ बशर हूं इस देखना पड़ेगा कि माँ कबल में बात क्या हो रही थी फरमाया मैं बशर हूँ फरिश्ता नहीं हूँ तुमसे बोलता हूँ समझाता हूँ मसला बयान करता हूँ अब तुम बहाने करते हो कि ये किसी दूसरी मखलूक का पैगाम है नहीं नहीं फरमाया मैं बोल रहा हूँ और बशरीत के अंदाज में बशरीत के लिबास में बोल रहा हूँ अब ये बशरी लिबास का जो इजहार किया है इससे हर गिज खाल के कायनात जल्ला जलाल ने रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि की नुरानियत की नफी उसकी हिकमत का तकाजा ही नहीं है वरना फिर अगर ये भी बशर है तो फिर दीगर बशरों को जब वो चलती हुई जंजीर की समझ नहीं आती अगर ये भी वैसे ही बशर है तो फिर इन्हें वहां से जालिकल किताब कैसे समझ आ जाता है अगर ये उस तरह की मिसल बशर है तो फिर दरम्यान में फरिश्ते की जरूरत क्या है फिर दरमियान में रसूल की जरूरत क्या है हर बशर वो समझ ले वो आवाज समझ ले क्योंकि ये जो टैलेंट है ये जो सलाहियत है और इस्तेदाद है ये सिर्फ पैगंबर में होती है और वहज के नजूल के वक्त दो बातों में से एक काम जरूर होता है या फरिश्ता बशरीत में आता है या पैगंबर मलाकूतियत में चला जाता है और मुनासबत पैदा हो जाती है वो फैज हासिल कर लेते हैं और आगे फिर मखलूक में बैठकर उस फैज को तकसीम फरमा देते हैं मोहतशम सामिन हजरात उसलूब जेन में रखिए अहादीस के जो दलाल हैं सिहाबा के जो अकवाल हैं लोगत के आइमों आइमा की जो तस्रीहत है वो मुस्तकिल सबक है मुस्तकिल बाब है उसका तस्करा कुछ दलाइल का हो चुका ये सिर्फ उसलूब के लिहाज से आप इस आयत को जहां भी कोई पेश करे उसको पकड़ के कहे कि आप मतलब इसका बयान करके लाओ तो पूरे पुराने मजीद में आपको कोई भी ऐसा मकाम नहीं मिलेगा कि जिससे आपके दावे की नफी हो रही हो बल्कि जिसको वो आपके दावे की नफी करार देंगे अल्लाह के फजल से वही से आपका दावा साबित हो जाएगा तीसरा अहम मरहला इस मकाम पर यह है कि बाकायदा मुफसरीन ने इसको तोजो करार दिया कि ये खाल के कायनात जल्ला जलाल हु ने रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि को इजहार तवाजो के लिए हुक्म दिया क्योंकि मोजात ऐसे थे कि अगर फर्म साथ ये बातें ना आती तो लोग आपको इला मानना शुरू कर देते इतने मोजात है इतने मोजात है इतने मोजात है और इतने रिफत जिक्र है और इस अंदाज में मोजात है कि वो पुराना जो ईसाइयों में बात निकल आई थी उसका खदशा था खाल के कायला जल्ला जलालू ने फरमाया साथ ये इजहार इज़ और इजहार तबाजों के लिए इस बात का इजहार करते रहो अगरचे मैं मुर्दों को जिंदा भी कर लेता हूं हाथ फेरू तो निगाहें मिल जाती है अगर मैं सिर्फ इशारा करूं दिल साफ हो जाते हैं मेरे कहने पे सूरज पलटता है चांद टुकड़े होते हैं कंकरियां कलमा पड़ती हैं और पत्थर तैरना शुरू कर देते हैं मगर फिर भी याद रखना मैं किसी लिहाज से भी इला नहीं हूं इला का बंदा हूं यह तवाजु है अब अगर यह तवाजु है है तो सही तवाजु है है तो सही कि सरकार ने अपने आपको बशर कहा और पुराने मजीद ने बशर कहा तो फिर हमारे कहने में भी बार बार इसका विरोध किया जाए तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए ये मुखालिफ कैंप की सोच है मगर याद रखें एक लफ्ज जो बतौर आजजी बोला जाता है उसका इजहार दीगर के लिए दुरुस्त नहीं है खास उसलूब के अंदर अब देखें आपने बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थी उसके पास आप गए तो आपने उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए तो कहते मैं तो बड़ा गुनाहगार बंदा हूं मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं मैं क्या दुआ करूं अब उन्होंने अगरचे वो जमाने का कुतब क्यों ना हो पाजी यह है कि वो ये कहेंगे मैं तो गुनाहगार हूं अब आप सुन लें और चार पांच इश्तिहार लगवा दें कि वो फुला गुनाहगार साहब यहां आ रहे हैं और उनका मर्तबा यह है कि वो गुनाहगार है और उन्होंने खुद अपने आप को गुनाहगार कहा है तो क्या ये जायज होगा अकल इजाजत देती है कि जिसको आपने इतना अजीम समझा और उसने अपने आप को माजल्ला इस अंदाज में जब अपनी आजरी का इजहार किया अपने तबादों का इजहार किया मैं तो फकीर हूं मैं तो गुनाहगार हूं अब उनका अपनी जुबान से कहना इसकी और हैसियत है और आपका उसको अखबार बना लेना इसकी और हैसियत है उनका कहना उसका और मतलब है आपका उसकी आगे तशहर करना इसका और मतलब है जब जा बजा पूरी उम्मत के मुफसरीन ने तबाजों का कॉल किया है कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि तबाजों के इजहार के लिए ये फरमा रहे थे बाशारुम मिसलो तुम तो फिर तबाजों के लफ्ज का यह तकाजा है कि उन्हें तो हक पहुंचता है कि वो ये बोले मगर हमें हक नहीं पहुंचता कि हम बार बार उन्हें इस बात का हवाला दें कि आप भी हमारे जैसे ही हैं माजल्ला तवाजो के अल्फाज का बोलना और इसका तवाजो होना ये इस बात की दलील है कि रसूल अक्रम नूरम मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु वसलम का तो ये कमाल है उन्होंने इतने बुलंद मकाम के बावजूद अपने आप को यह कह दिया अल्लाह के कहने पर इस तवाजो का इजहार कर दिया लेकिन सुनने वालों के लिए यह जायज नहीं है कि उस तवाजो पर ही पक्के हो जाए और क्या यही मरतबा है और कुछ भी नहीं है वो बस माजल्ला डाकिए की तरह आए थे और हम जैसे ही हैं और कुछ कर नहीं सकते और दीवार के पीछे का इल्म नहीं है और माजल्ला हजारों बकवासात ये सारे उस मकाम इज्म को उसी पर हवाला बना लेना ये बहुत बड़ी जसारत है बेदबी है और एक अकल सलीम भी किसी बंदे को इसकी इजाजत नहीं देती याद रखें यहां दो बातें बड़ी काबिल गौर है कि ये आयात कोई शख्स पढ़ता है तो उसके पीछे पढ़ने के पीछे मुहर्रक क्या है क्यों पढ़ता है दर्श देता इसी का देता है तकरीर करता इसी की करता है पीछे मुहर्रक क्या है क्यों ये करता है जहां बैठता है यही आयत पढ़ता है जहां बोलता है यही बोलता है पीछे मुहर्रक क्या है अगर मुहर्रक ये हो कि ये जाहिर करना है कि रसूल अक्रम सल्लल्लाहु वसलम को इला बना लिया गया है और आपको अल्लाह समझते हैं लोग और लोगों को पता ही नहीं कि वो इंसान थे और लोग जो है उनको खुदा और इलाह समझते हैं लिहाजा अब सवाल हो गया कि क्या वो इलाह है या इंसान है इस जवाब में बोलना कि वो इंसान है बशर है ये एक वाक्य की जरूरत और इस बोलने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन याद रखें अगर ये जरूरत है ही नहीं एक बच्चा भी जानता है कि वो फरिश्ते नहीं थे वो इंसान थे वो खुदा नहीं खुदा के बंदे थे और हर तरफ ये अकीदा जलवागर है और किसी ने ये जसारत ही नहीं की कि उन्हें इला कहे उन्हें इला की जुज कहे उन्हें खाल के कायनात जल्ला जलालू का बेटा कहे ऐसी कोई जरूरत मौजूद ही नहीं है ऐसा कोई अकीदा मौजूद ही नहीं है तो अब बयान करने का पीछे सबब क्या है हर जगह इसको बयान किया जाता है तो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि उनका जो बुलंदो बाला मकाम नक्श दिल पे मौजूद है और अवाम उन्हें माफोकुल फितरत एक इंसान समझती है और इतना माफोकुल फितरत के ख्याल भी वहां तक नहीं पहुंचता और हमने कोशिश करके अल्लाह उन्हें एक सती सा इंसान साबित करना है कि वो भी हम जैसे ही हैं और कोई फर्क ही नहीं है ये नीयत जो है इस नीयत की बुनियाद पर अगर कोई अगर चे कुरान की आयत पढ़ रहा है उसे एक हरफ पे दस नेकियां नहीं सौ गुना हो जाएगा नीयत मुहर्रिक ये पेश नजर है कुछ लोग इस गलती में आ जाते हैं जब एक लफ्ज है तो बोलने में हरज क्या है लफ्ज होता है मगर बोला नहीं जाता क्या ये सबका अकीदा नहीं है कि खिनजीरों का खालिक भी खुदा है मगर आज तक किसी ने तारीफ करते हुए यह कहा अल्हम्दुलिल्लाह या खालिक अल खनाजीर ए खिनजीरों के खालिक मैं तेरी तारीफ करता हूं हकीकत है कि वो खिनजीरों का भी खालिक है वो कुत्तों का भी खालिक है मगर तारीफ तो यह है कि कहा जाए मैं रब मोहम्मद की तारीफ करता हूं रसूल अक्रम याद रख लें आयात हक है पढ़ना भी हक है मगर मुहर्रिक क्या है तलाश कर लो तलाश करो चोर को खोज लगा लो पीछे सबब क्या है अगर कोई वाकई ऐसा मौका आ जाए कि कोई शख्स डटा हुआ हो कि नहीं नहीं वो खुदा है वो इला है आप पढ़े तो नहीं वो बशर है इंसान है लेकिन जब ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है उनको इंसान मानना ये ईमान की शर्त अव्वल है उसके बगैर दिन आ ही नहीं सकता बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता मगर वो जो इंसान कामिल है माज अल्लाह उन्हें खींच के अपने पास बिठाना और अपनी मनहूस शख्सियतों के साथ उनकी मुमासरत और हमसारी करना यह ये हरगिज ईमान का तकाजा नहीं है यह गुस्ताखी है यह तोहीन है अगरचे उनका बशर होना और अजमत वाला कमाल बशर होना उनकी एक फजीलत है मगर उसके बयान का भी मौका होना चाहिए और बयान के सबब का पाक होना चाहिए नियत का साफ होना चाहिए अब यह क्या हकीकत नहीं है कि अल्लाह खिन का भी खालिक है मगर उसकी तारीफ करते हुए ये कहा जाता है मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जो रसूलों का खुदा है जो पैगंबरों का खुदा है जो सिद्दीकों का खुदा है जो शहीदों का खुदा है जिसने बंदाए मोमिन को ईमान दिया है जिसने बंदाए मोमिन को तकवा दिया है जो खाने को देता है जो पीने को देता है जो रब है जो रहीम है ये उसकी हजारों सिफात और भी है तो उन्हें जिक्र किया जाएगा वो जो दीगर सिफतें हैं भी मगर चूंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है बयान करने की लिहाजा हक होने के बावजूद बंदा बयान नहीं करेगा हाँ अगर कोई ऐसा मरला आ जाए कोई कह दे कि खिनजीर किसी और ने पैदा किए हुए हैं तो अब आप जरूर कहें कि नहीं खिनजीर भी मेरे खुदा ने पैदा किए हैं ये होती है हिकमत यह है तकाजा हिकमत का उसलूब का यह तकाजा है कि जरूरत कैसी है वक्त कैसा है मामलात कैसे हैं लिहाजा आज ये लोग जिनको सिर्फ ये आयत आती है और माजल्ला बार बार इसकी रट लगा रहे हैं उनके मुहर्रिक तलाश करो क्या वजह है ऐसा क्यों कहते हैं वजह सिर्फ ये है कि शैतान से मुआदा कर बैठे हैं कि हमने उनकी अजमत को माजल्ला पस्त करना है और वो अगर हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे लोग मानेंगे नहीं कुरान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी अजमत आम सती इंसान तक खींच के लाने की कोशिश करेंगे माजल्ला उनकी अपनी ये गंदी सोच और उस पर यह बात उसवार हो रही है लेकिन मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा अब लफ्ज बशर को लफ्ज बशर को महबूब सलाम की अजमत कम करने के लिए इस्तेमाल करना ये मफहूम कुरान पर वारदात है और इसे हक बयान करने के लिए इस्तेमाल करना ये कुरान मजीद का अपना तकाजा है मोहत शमसन हजरात इस वास्ते हर बात को उसकी उसलूब की रोशनी में और उसकी जो इलल और मुहर्रिकात है उनकी रोशनी में देखेंगे सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे अब ये कितनी बाजे सी बात सामने आ गई मैंने जितने उसलूब बयान किए हर आयत जहां ये जिक्र है उसका माकबल पड़ा और यहां वो ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं था कि जिसकी वजह से बशर का ये माना किया जाए कि बशर वो होता है जो मट्टी का बना हो ऐसी कोई बात नहीं है जो माकबल में जिसका जवाब देने के लिए आयत को नाजल किया गया उस चीज को सामने रखेंगे तो फिर पता चलेगा कि बशरीत क्या होती है और सरकार ने किस बात का इजहार फरमाया है इस बात पर तफसीली गुफ्तगु हमारे मुख्तलिफ दुरूस में और मौजूद में पहले हो चुकी है मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हमें कुरान सुन्नत का सोच और तंदुरुस्त फहम हासिल करने की अल्लाह तोफीक अता फरमाए और इसे आगे तकसीम करने की तोफीक अता फरमाए ये एक दो ऐलाना है इंशाला तबारक वाली सोलह सत्रह अठारह अप्रैल को इस्लामाबाद में दावत इस्लामी का अजीम शान इज्तिमा हो रहा है आप हजरात से शिरकत की अपील की जाती है इमाम अल सुन्नत कॉन्फ्रेंस सत्रह अप्रैल को जुमेरात बाद नमाज इशा मुनद हो रही है जाम मस्जिद बहार मदीना अहमदाबाद मोड़ में आप हजरात से शिरकत की अपील की जाती है दिफाए बगदाद कॉन्फ्रेंस और दिफाए बगदाद रैली आज इन तबारक वाला ताला जुमा के बाद तीन बजे जाम मस्जिद फारूकिया एक मीनार वाली शेखपुरा मोड़ गोजरा वाला वहां से शुरू होगी आप हजरात से शिरकत की अपील की जाती है बस बाखिर दावा अलहमदुल्ला रबीआलम صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين يا إله العالمين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جہ کے طفیل ہماری یہ نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جہ کے طفیل इराकी मुसलमानों की मदद फरमा या अल्लाह अमरीका और उसके इतिहादियों को नेस्त नबूद फरमा इलामीन आलम इस्लाम को इतिहाद इतफाक अता फरमा या अल्लाह इराकी मुसलमानों की शहादतों को कबूल फरमा या अल्लाह इराकी शहदा को बुलंद मकाम अता फरमा इलामीन उनकी शहादत को इस्लाम के गलबे का सबब बना इलामीन नशत सानिया के लिए उनकी शहादतों को कबूल फरमा इलामीन जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा मकरूजों को कर्ज से निजात अता फरमा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा सबकी दीनी दुनियावी मुश्किल को हल फरमा इलामीन रसूल अक्रम सल्लाम के अजीम जह के तुफैल हम सबको फहम कुरान अता फरमा या अल्लाह कुरान सुन्नत का सही फहम अता फरमा हम सबको अपनी जिंदगी कुरान सुन्नत के साथ तले बसर करने की तोफीक अता फरमा <clears throat> सिकंदर भट्ट साहब की हम शीरा फौत हो गए हैं दुआ कीजिए अल्लाह उनको मगफरत अता फरमाए या अल्लाह उनको बख्शिश अता फरमा या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा हाजरीन के जितने मुतालकिन फौत हो चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा सबके गुनाहों को माफ फरमा और सल्लल्लाहु ताला हबीबी ही खैर के ही सैदना मौलाना मोहम्मद वाली वसहाबी अजमाइन